बोलो पानी तीन बिली के पत्ते एक काली मिर्च उबाल के पौना लीटर पानी हो गया छान के रख लिया वो पिया के कैसा भी गैस बैस हो गायब बुढ़ापे में गैस होता है और कईयों को बचपन में भी गैस होता है एक दूसरी बात है सुबह लेट गए श्वास बाहर निकाल दिया और संकोचन विसर्जन कपालबाजी नहीं फल बस्ती संकोचन विस्तरण संकोच अस्सी प्रकार का गैस गायब और प्रभाव भी बढ़ जाएगा इम्प्रेसिव भी होगी अभी थोड़े दिन इतने पगार में चलेगा फिर तू ट्राई करना तो जंप हो जाएगा